उन्हें बड़ी घबराहट गमगीन न करेगी और फरिश्ते उनके इस्तकबाल को आएंगे ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा दिए जाते थे